की जो ज़िंदगी होती है उसका लेवल उसकी सोच के लेवल से तय होता है एक इंसान जो आला सोच रखने वाला होता है उसकी ज़िंदगी का मैार और उसके ज़िंदगी की सतह भी आला होती है और एक इंसान जिसकी सोच निचली सतह पर हो उस इंसान की ज़िंदगी भी उसी सतह की होती है आप देखें ज़मीन पर मक्खियाँ भी उड़ती हैं मुर्गियां भी उड़ती हैं चील कौए और चिड़िया और क्या कुछ नहीं परिंदे हैं इनकी एक परवाज की सतह होती है आप मुर्ग को उसकी सतह से ज्यादा आसमान में उड़ने की तमन्ना करें तो चाहे कितना ही महंगा हो उससे ऊपर नहीं उड़ सकता है जितना उसका लेवल है पर उसके पास भी हैं लेकिन उसमें वो सलाहियत नहीं है कि वो और ऊंचाई तक जा सके उसके परों में वो सलाहियत नहीं है कि वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सके मक्खियां हैं जो इंसान के अतराफ ही घूमती फिरती रहती हैं लेकिन अगर आप आसमान में देखें तो आपको उसमें चील और बाज भी आपको दिखाई देगा जो ऊंचाई पर आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे उनके परों में वो सलाहियत होती है वो कुवत होती है कि वो ऊंची हवा में जाकर उड़ सकें उनके बाजुओं में कुत होती है उनके परों में कुवत होती है और उनके उड़ने का लेवल उनके जीने का लेवल आम परिंदों के मुकाबले में ज्यादा ऊपर होता है ये परिंदों का मामला है लेकिन इंसान का मामला ये है कि जिस लेवल की इंसान की सोच होती है उस लेवल का उसका जीना होता है आप देखिए एक मुर्ग में और आप बाज में बहुत बड़ा फर्क है वो उस बुलंदी को नहीं समझ सकता है जो बाज समझता है चील समझती है वो उस ऊंचाई को नहीं समझ सकता है इसी तरह से एक आम सतह पर जीने वाला आदमी जिसकी सोच में गहराई नहीं है जो जिंदगी को उसके वाकई रूप में नहीं देखता है जिसको अल्लाह ताला की सही मारिफत नहीं मिली है जिसके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं है जिसके सामने मौत के बाद की कोई जिंदगी का तस्वुर नहीं है जिसके पास दुनिया में अता करने के एतबार से अल्लाह का कोई एतक़ाद नहीं है जिसके पास बस इतना ही इल्म है कि अगर कोशिश करते हैं तो होता है नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होता है वो अल्लाह का दखल कायनात में नहीं मानता है ऐसा इंसान अक्सर जीने की सतह में निचला तो होता ही होता है लेकिन जब मसायब और मुसीबतें उस पर आती हैं तो वो टूट जाता है क्योंकि इंसान को जीने के लिए आला उसूल और ऊंची सोच एक बहुत बड़ा सहारा होता है आप देखिए समंदर के किनारे बच्चे रेत के घर बनाते हैं वो एक खेल होता है उनके लिए वो घर होता है लेकिन समंदर की एक मौज आती है और बनी बनाई पूरी इमारत को ढा देती है क्यों ऐसा होता है ऐसा इसलिए होता है कि वो घर मजबूत नहीं होता है उसकी बुनियादें मजबूत नहीं होती हैं उसमें पुख्तगी और उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है वह हल्का फुल्का घर होता है जो वक्ती सहारे पर ठहरा हुआ होता है टिका हुआ होता है उसकी बुनियादें गहरी नहीं होती उसकी बुनियादें जमीन के अंदर नहीं होती बस जमीन के ऊपर होता है वो वो सतह पर होता है गहरा नहीं जाता है उसकी दीवारों में मजबूती नहीं होती है एक मौज पानी की आती वो घर पूरा कहाँ घर था ढूंढना मुश्किल हो जाता है पानी उस घर को तोड़ देता है क्यों वो मजबूत बुनियादों पर बनाया हुआ घर नहीं है उसमें पुख्तगी नहीं है आदमी में पुख्तगी कहाँ से आती है उसके जिस्म के अंदर पुख्तगी आती रीढ़ की हड्डी से और उसके अजलात से उसके मसल से लेकिन कितने जिस्मानी एतबार से मजबूत लोग होते हैं जो ज़िंदगी की मुसीबतों में टूट जाते हैं आपने देखा होगा जब रिसेशन का मामला हुआ तो कितने लोग थे मालदार सेहतमंद पढ़े लिखे और क्या कुछ नहीं कितने लोग थे जिनके पांव के नीचे से ज़मीन निकल गई और कितने लोग थे जिन्होंने जहर खा खा के खुदकुशियां की है कि नहीं कई केसेस ऐसे हो गए कितने लोग थे जो पागल हो गए कितने लोग थे जो इतने टूट गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को एक काम के नशे से निकलकर अब ड्रग एडिक्ट बन गए शराब के नशे में चले गए कुछ बीमार हो गए हॉस्पिटल में चले गए क्या हुआ रिसेशन हो गया इतना बड़ा सदमा जिंदगी कुछ से कुछ हो गई कुछ तो लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खुद भी जहर खाया घर वालों को भी जहर खिलाया टूट गया आदमी क्यों उसके पास जो भी था वो पैसा था उसके पास जो भी था वो जॉब था और कुछ भी नहीं था उसके पास उसका जॉब छिन गया उसका पैसा छिन गया उसका फ्यूचर छिन गया फ्यूचर हाथ में है नहीं उसको लगा छिन गया जो उसके पास था नहीं उसके ख्याल में उसको लगा कि वो मुझसे छिन गया फ्यूचर आपके पास है मुस्तकबिल हमारे हाथ में नहीं है लेकिन उसको लगा मेरा फ्यूचर छिन गया मुझसे इस छिनने पर उसके पास और कुछ चीज नहीं थी उसको लगा और भी कुछ नहीं है मेरे पास यही एक था वो भी गया उसने क्या कर लिया अपनी जिंदगी खत्म कर ली क्या मैं कैसे जी सकता हूं ये मजबूती नहीं है ये कमजोरी है इसलिए जो घर कमजोर बुनियादों पर बना हुआ होगा समंदर की एक हल्की फुल्की मौज उसको ढेर कर देगी खत्म कर देगी उसको रेत का एक ढेर बना देगी उसकी कोई बुनियाद बाकी नहीं रहेगी और दुनिया दुनिया में आप जिंदगी में एक ही मौज आएगी ऐसा है आप समंदर के किनारे अगर घर बना रहे हैं आपको तैयार होना पड़ेगा एक मौज आके गई अब दूसरी आने वाली है लकद खलक नल इंसान अफी का हमने इंसान को तकलीफ ही में पैदा किया है मशक्क़त ही में पैदा किया है कि इंसान की जिंदगी में शुरू से अखेर तक सारे मराहल हैं उसके अंदर एक के बाद एक आजमाइश एक के बाद एक मुसीबत है वलनबलवनकुम बिशई मिन अलखौफी वलजूई व नक्स मिन अलमवाल वलअनफुसी वतमरात एक के बाद एक आजमाइश इंसान पर आती जाएगी चाहे वो दुनिया का मामला हो चाहे दीन का मामला हो चाहे वो जिस्मानी एतबार से सेहत का मामला हो चाहे माल के एतबार से फिनेंशियल मामला हो चाहे घर गृहस्थी खानदान का मामला हो चाहे समाज का मामला हो चाहे दोस्तों का मामला हो रिश्तेदारों का हो या दुश्मनों का मामला हो इंसान पर एक के बाद एक मसाइल और मसायब आने वाले हैं वो इनसे भाग नहीं सकता है वो इनसे भाग नहीं सकता है व नबलू कुम बिशर वल खैर फितना हम तुमको मुसलसल शर और खैर के जरिए से आजमाते रहते हैं ये आजमाइश का सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं ये कब तक चलने वाला है मौत तक चलने वाला है बहुत दीनदार है आजमाइश नहीं आएगी ज्यादा आएगी जितना दीनदार है उतना ज्यादा आजमाइश आएगी अशदुल्नास बिल बला अल अम्बिया तुम अल अमसल फल अमसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे ज्यादा बलाएं आजमाइशें मुसीबतें तकलीफें परेशानियां नबियों पर आती हैं फिर उनके बाद जो मर्तबे वाले होते हैं फिर उनके बाद जो मर्तबे वाले होते हैं आदमी पर उसकी दीनदारी और पुख्तगी के एतबार से आजमाइश आती है लेकिन इन आजमाइशों में जमने के लिए एक इंसान को अपने अंदर मजबूती पैदा करना ज़रूरी है कितने लोग हैं जो परेशानियों में आकर मुर्तद बन जाते हैं कितने लोग हैं जो अल्लाह ताला से अल्लाह से शिकायत करने की बजाय अल्लाह की शिकायत करने लग जाते हैं कितने लोग हैं जो दीन को खैर बात कह देते हैं सलाम नमाज से पहले जैसे आदमी सलाम फेर लेता है नमाज होगी मौत से पहले आदमी दीन को सलाम कह देता है मौत तक जमना है वाला तमुतुन अल्लात मुस्लिम तुमको मरना है तो इस्लाम ही की हालत में मरना पड़ेगा मौत तक इस्लाम पे जमना पड़ेगा और इस्लाम फर्मा बरदारी का नाम है और फर्मा बरदारी सिर्फ खुशी के हालात में राहत के हालात में हो मुसीबत में भी असल वहां पहचाना जाएगा असल आदमी उस वक्त पहचाना जाता है जब बलाएं और मुसीबतें उस पर आती हैं वाकई इंसान की दीनदारी का इम्तहान वो वक्त होता है तो ये बहुत अहम चीज है कि एक आदमी वाकई अपनी जीने की सतह को ऊंचा करे और जीने की सतह ऊंचे कैसे होगी उसकी सोच की सतह के ऊंचा होने से आप पूछेंगे सोच कैसे ऊंची होगी ये दो चीजें हैं जिससे इंसान की सोच की सतह आला और ऊंची होती है एक है ईमान और दूसरे है इल्म आदमी के दिल का यकीन और इल्म उसके पास अगर होगा तो वाकई वो इंसान आला तरीन सतह पर सोचने वाला बन जाता है जिसके पास ज़िंदगी के बारे में आखिरत के बारे में इस्लाम के बारे में दीन के बारे में इंसान के बारे में दुनिया के बारे में नफ्स और शैतान के बारे में अल्लाह के बारे में उसके रसूल के बारे में उसके पास इल्म नहीं हो मसाइल और हल का इल्म उसके पास उसके पास नहीं हो अल्लाह वाला इल्म उसके पास अगर नहीं हो और उसके ऊपर उसके पास यकीन भी नहीं हो उसके पास ईमान नहीं हो ऐसा आदमी दुनिया में आला सतह पर सोच नहीं सकता है बहुत ज़रूरी है कि आदमी अपने लिए ये सतह हासिल करे आप देखें कि इस्लाम में हमको इस बात की तरगीब दी गई है कि हम अपनी सोच को मुस्बत रखें पॉजिटिव रखें हर किस्म के हालात में हम सही सोचने वाले हों परेशानी में आदमी को सोचना नहीं आता समझ में नहीं आता कुछ लेकिन ईमान और कुरान और सुन्नत का इल्म उसको हर किस्म के हालात में नूर और रोशनी का काम देते हैं अगर आदमी के पास ईमान का नूर हो उसके पास नबवी इल्म की रोशनी हो तो ऐसा आदमी हर हाल में सही तौर से फैसला ले पाता है और वह हर हाल में दीन पर जमा रहता है वो टूटने से बचता है आप देखें कुरान और सुन्नत में हमको इस सिलसिले में क्या रहबरी मिलती है आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पर हैं एक बहुत मुश्किल दौर आपकी जिंदगी में उस वक्त आया जब एक ही साल में दो हमदर्द और सहारे दुनियावी एतबार से मादी एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छूट गए नंबर एक आपके लिए हर हर लेवल पर कुर्बानी के लिए तैयार रहने वाली बीवी खदीजा रदी अल्लाह तला जिन्होंने पहली मरतबा आप जब डरे डरे घर लौटे थे और कहा था कि मुझको डर है जम मिलूनी जम मिलूनी जब पहली बार जिबरील से सबका पेश आया और घबराए घबराए सहमे सहमे घर लौटे और समझ में नहीं आता था कि क्या करें अभी तो मालूम नहीं था नबी नबूत क्या है और क्या मामला है अचानक नबूत मिल गई उस वक्त में चादर उड़ाने वाली बीवी उस वक्त में आपसे कहने वाली कि आपको अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करेगा आप ऐसे और ऐसे हैं आप में ये खूबियां हैं आपको अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा वो बीवी जिसने अपना पूरा माल दीन की खातिर लगा दिया वो बीवी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब आप चले जाते गार में गार हिरा में तो आपके लिए खाना और पानी लेकर धूप में चिलचिलाती धूप में इतने दूर जाकर आपको खाना पीना देती थी जो हर किस्म के लोगों के मजाक और तकलीफों को बर्दाश्त करती थी जिनकी उम्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पंद्रह साल ज्यादा थी आप नबी बने आपकी उम्र चालीस साल तो उनकी उम्र कितनी हुई पचपन साल पचपन साल उस उम्र में नबी के साथ ढाल बन के खड़ी हुई थी आपके लिए एक मॉरल सपोर्ट जिस बीवी का था वो सहारा टूट गया उनकी वफात हो गई दूसरी तरफ कबीलों की मुखालफत जैसे जैसे आपकी दावत ज्यादा आम होती चली गई आपके दुश्मनों की तादाद बढ़ती गई क्योंकि उस जमाने में तोहहीद की दावत देना ऐसा था जैसे अरब से उन सरदारों की सरदारी को ख़त्म कर देना क्योंकि वहां पर सरदारी का निज़ाम शिरक पर कायम था और सारे के सारे कुरैश अल्लाह के घर के मुतवली बने हुए थे और अल्लाह के घर को उन्होंने बुतों से भर दिया था और इन्हीं बुतों की बुनियाद पर सारे कबीलों को जमा करते थे और हर कबीला उनको कुछ ना कुछ हदाया देता था फाइनेंशियल लॉस भी हो जाने वाला है और सरदारी भी खत्म हो जाएगी सेंट्रल पॉइंट खत्म हो जाएगा और ये तोहहीद की दावत देने वाले नबी सारा अरब दुश्मन जितनी आपकी दावत आम होती चली गई आपकी दावत के साथ साथ लोग आपकी जान के दुश्मन होते चले गए उस वक्त में आपका सहारा बनने वाले कबायली सतह पर कबीलों के एतबार से आपको सपोर्ट देने वाले कि जिनकी बात चलती थी वो कौन थे अबू तालिब जिस साल हजरत खदीजा रदी अल्लाह का इंतकाल हुआ है उसी साल अबू तालिब की भी मौत हो गई एक साल में दो बड़े बड़े सख्त वाकयात दो बहुत ही मजबूत ताकतें जो इस दीन की दावत के लिए सपोर्ट बनी हुई थी वो दोनों के दोनों दुनिया से रुखसत हो गए अबू तालिब अगरचा मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन रिश्तेदारी की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे और एक अखलाकी बात उनमें थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाखलाक होने की वजह से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत वो अपने लिए एक गैरत की चीज़ समझते थे इसीलिए सारे कबीले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई बड़ा इकदाम करने से डरते थे अबू तालिब की वजह से क्योंकि अबू तालिब की बात चलती थी वहां पर लेकिन इसी साल अबू तालिब की भी मौत हो गई आप सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल में क्या गुजरी होगी इसीलिए बाज़ ने इसको आमुल हुज़न कहा है गम का साल कि बड़ा सख्त मामला इस साल हुआ है इस साल में मुसलमान आमतौर से बेयार मददगार हो गए कोई सपोर्ट नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अजनबी हो गए और जैसे चील और कौए किसी के लिए चीर फाड़ करने के लिए गीदड़ तैयार हो जाते हैं इसी तरह से मुशरकिन हर एतबार से मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए पर फड़फड़ाने लगे उनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबी असबाब के दायरे में रहकर दावती निज़ाम चलाते हैं तवक्ल अल्लाह पर होता है लेकिन कोशिश जो भी करनी होती है करनी होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए मजीद मादी और इंसानी सहारा तलाश करते हुए और दावत का मैदान बढ़ाने के लिए आप मक्का से निकले और आपने एक सफर किया मक्का से बाहर का ये कौन सा सफर था ये ताइफ का सफर था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में निकले और आप ताइफ पहुंचे तायशा रदी अल्लाह पूरा वाकया उसकी उसका बयान करती हैं और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बयान करती हैं इस वाक़े में जहां एक तरफ दावत के मुखालफी का मिजाज दिखाई देता है वहीं आपको दिखाई देगा कि एक इंसान अगर वाकई आला सतह पर जीने वाला हो उसकी सोच की ऊंचाई आम लोगों की सतह से ऊंची हो तो वो मुश्किल हालात में भी जीना सीख लेता है और मुश्किल हालात उसको तोड़ नहीं पाते हैं आप देखिए पूरा वाक़ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में आप सुनिए ततायशा फरमाती हैं कि उन्होंने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा फरमाती मैंने पूछा हल अतः यौमन ना अशद दामिन यौम उहद अल्लाह के रसूल क्या ओहद की जंग का जो दिन था बहुत बहुत खतरनाक दिन था ओहद का दिन सत्तर साहब शहीद हो गए उस दिन क्या उससे ज्यादा सख्त दिन आपके ऊपर गुजरा है क्या उससे ज्यादा सख्त दिन ए नबी आप पर गुजरा है काल लकद लकी इन कौमी का मकीत आपने फरमाया तेरी कौम से तो मुझको बड़ी बड़ी तकलीफें पहुंची हैं तेरी कौम से मुझको बहुत रंजोगम मिले हैं बहुत तकलीफें दी तेरी कौम ने मुझको वकान अशद मालकी तुमिन यौमलबा और सबसे ज्यादा उनसे जो सख्त दिन देखने को मुझको मिला वो अलअबा का दिन था वही जो ताइफ का दिन है इद अरब तो नफसी अला इबन अब्दी आलील इबन अब्दी कुलाल जब मैंने अपने आप को एक कबीले का सरदार था जो ताइफ के कबीले का सरदार था इबन अब्दी आलील उसके ऊपर मैंने अपने आप को पेश किया कि तुम मेरी नुसरत करो मेरी दावत में मेरे लिए सहारा बनो तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है मैंने अपने आप को उस पर पेश किया नुसरत के लिए ईमान कबूल करने के लिए दावत का हमदर्द और साथी बनने के लिए फलम युजिबनी फलम युजिबनी इलामा अरत लेकिन जो मेरी तमन्ना थी और जो मेरी चाहत थी उसके मुताबिक उसने मुझको जवाब नहीं दिया मुझको उससे वो जवाब न मिला जिस इरादे से मैं उसके पास गया था फन तलक तो अना महमूम अला वजह बस जब मेरा हर तरह से इनकार हो गया तो मैं निकल पड़ा वहां से और चलता रहा चलता रहा गम की हालत में बड़ा गमगीन दिल लेकर मैं चल रहा था महमूम अला वजह जहां मुझको मेरा चेहरा ले गया मैं चलता चला गया और बड़ा गम था मुझ पर एक फिक्र छाई हुई थी फलम अस्तफिक इल्ला व अना बेकर्न मुझको होश ही नहीं रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ चलता रहा चलता रहा मुझको होश नहीं आया यहाँ तक कि मैं कर्न फ़ालिब तक पहुँचा आप सोचिए कि क्या सुलूक बहुत सारी रिवायत इस सिलसिले में आई हैं आपको पत्थर मारे गए यहाँ तक कि आपका खून खून आपके जो है सर से बहने लगा और पाँव तक पहुँच गया और और भी बातें उलमा ने लिखी हैं बदमाश कस्म के लड़कों को उन्होंने पीछे लगा दिया और आपकी हिफाजत की बजाय आपको तकलीफ देने वाले वो बन गए आप अपनी जान बचाकर किसी तरह से गमगीन वहां से निकले और आप चलते चले गए आपको होश नहीं आप सोचिए वो नबी जिसके दिल पर वो कुरान उतरा है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा लव अनजलना हादल कुरान कि अगर इस कुरान को हम एक पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि अल्लाह के डर की वजह से वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया है वो दिल जो कुरान का बोझ ले रहा है क्या गुजरी होगी पूरे कबीले ने एक तो वो गम है बीवी का इंतकाल हो गया एक सहारा छूट गया और बीवी सिर्फ दीनदारी के अतबार से सहारा थी एक इंसान को दुनियावी एतबार से बीवी का छूटना खसूस ऐसी बीवी जो बड़ी मोहब्बत करने वाली हो जो इशारे की ताबे हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे हत खदिया रदी अल्लाह से के बाद में भी आखिरी दौर तक आप हजरत खदीजा रदी अल्लाह की तारीफ किया करते थे बाल बीवी ने कहा कि वो उनके तो दांत भी नहीं थे मुंह में लेकिन आपने कहा नहीं वो मेरी बीवी बड़ी अच्छी बीवी थी और वो और ये और ये खूबियां आपने उनकी बयान की बहुत मोहब्बत करते थे तो एक तो गम बीवी के छूटने का एक चचा के छूटने का एक दावत के सिलसिले में सहारों के टूटने का एक मुशरकिन की हिम्मतें बढ़ने का क्या क्या गम एक वक्त में जमा हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बड़े गम से निकल कर आए कि कुछ तो कोई तो माने मेरी बात को और अकेला इंसान चल के गया है इतने दूर चल के गए हैं पैदल गए हैं और वहां जाकर जब दावत पेश की तो उन्होंने ऐसी बदसलूकी की और भी गम बढ़ गया एक गमगीन इंसान को अगर कोई सख्त बात भी कह दे आम हालात में बर्दाश्त कर ले लेकिन गम की हालत में अगर एक सख्त बात कोई कह दे आदमी छलक पड़ता है अल्लाह के नबी सल्लाम आम इंसानों के मुकाबले में ज्यादा हसास थे ज्यादा सेंसिटिव थे आप और जो इंसान किसी को दुखाता नहीं है उसको कोई दुखाया तो बहुत तकलीफ उसको होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को दुखाते नहीं थे और आप लोगों के पास गए और आपके साथ ऐसी बदसलूकी हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोशी की मदहोशी की हालत में आप आगे निकलते चले गए चलते गए चलते गए चलते गए कहते हैं मुझको होश ही नहीं मैं कहा जा रहा हूं मुझको होश आया तो मैंने देखा मैं कर्न सयाली पे एक मकाम है वहां पर मैंने अपने आप को पाया फरफा चौरासी फ़ैदा अना बिसहाबतिन कद अगलतनी मैंने सर उठा के देखा तो मैंने देखा एक बादल है जो मेरे ऊपर साया किए हुए अब देखिए अल्लाह ताला अपने बंदे को छोड़ता नहीं है इस दुनिया के सहारे छूट गए धूप में नबी चल रहा है धूप में चले जा रहा है अल्लाह ताला को रहम है अल्लाह ताला ने आपको भी होश नहीं और बाल अवकात अल्लाह की मदद साथ होती हम देखते नहीं है बाद अवकात अल्लाह ताला दिखा के मदद नहीं करता है आपने सर उठा के देखा था ये तो बादल है आपके ऊपर बादल साया किए हुए थे आप फरमाते मैंने सर उठा के देखा तो मैंने देखा एक बादल है जो मेरे ऊपर साया किए हुए है फनवर तुफा इदा फीहा जिबरील मैंने देखा बादल में तो बादल में मुझको दिखाई दिया कि बादल में तो जिबरील है जिबरील है फनादानी जिबरील ने मुझको आवाज देकर कहा अब तक जिबरील चुप है कुछ बोल रहे नहीं नबी गम में गम हल्का हो जाए थोड़ा सा अदब है कुछ बोल रहे नहीं है जब आप ये निगाह गई तो आपने देखा जिबरील है जिबरील मालूम नहीं कहां से चले होंगे साथ में आपने देखा तो जिबरील ने आपको देखा और जिबरील ने निदा लगाई पुकार के कहा फ़काल इन अल्लाह कद सम्या कौल कौमी कलक वमा रद्दू अलैक जबरील ने कहा नबी अल्लाह ताला ने जो आपने अपनी कौम को दावत देते हुए जो बातें कही थी वो सारी बातें अल्लाह ने सुन ली और कौम ने आपकी दावत के जवाब में जो कुछ पेश किया जो कुछ सुलूक आपसे किया वो भी अल्लाह ने देखा वो भी अल्लाह ने सुना वो भी अल्लाह ने सुना और वह कदबा था इले का मलक अलजिबाल अब देखिए ये ये पहाड़ों का फरिश्ता है अल्लाह ने इसको भेजा है आपके लिए ये पहाड़ों का फरिश्ता है ये अल्लाह ने आपके पास भेजा है लिता मोरा हो बीमा तफीम ताकि आप हुक्म दें अल्लाह भी हुक्म नहीं देगा आप पर छोड़ दिया है ए नबी ये पहाड़ ये फरिश्ते किसके ताबे चलते हैं अल्लाह के हुक्म के ताबे चलते हैं अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा नबी के पास जा नबी के पास और जो हुक्म नबी दे वो करना जबील कह रहे हैं अल्लाह के रसूल देखिए पहाड़ों का फरिश्ता है अल्लाह ने आपके पास इसको भेजा है ताकि आप जो चाहें उनके मामले में फैसला करें और इसको हुक्म दे दें और और कहा कि तुम मकाला और फरमाते हैं कि फनादानी और उस फरिश्ते ने मुझको निदा लगाई पुकार के कहा फनादानी मलकुल जिबाल फसलम अलई उस फरिश्ते ने सलाम किया मुझको सलाम किया अल्लाह के नबी सल्लाम को उस मलकुल जिबाल ने पहाड़ों के फरिश्ते ने सलाम किया तुम मकाल या मोहम्मद और कहा ए मोहम्मद फ़काल दालिका फ़ीमा शिच इन शिता अन आप जो चाहें हुक्म दें अगर आप हुक्म देते हैं तो इन दो पहाड़ों के बीच में इनको पीस कर रख दू जिन्होंने आपके साथ बसलूकी की है आपकी दावत का इनकार किया है आप देखिए कभी आपकी जिंदगी में पहाड़ों का फरिश्ता नहीं आया है कि कुरैश के लोगों ने आपके साथ ऐसा किया उनको पीस के रख देता हूं ओहत पहाड़ के नीचे या फुला पहाड़ के नीचे कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन कितना ज्यादा सताया होगा उन लोगों ने कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा अल्लाह को भी मालूम है बहुत सताया गया नबी और ये इस लायक हो चुके हैं कि इनको सजा दी जा सकती है इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है कि पहाड़ों के बीच में कुचल कर रख दिया जा सकता है इतना बुरा काम उन्होंने किया है नबी को सताया उन्होंने लेकिन अल्लाह ने किसके हवाले कर दिया फरिश्ते को रहमत आलमीन के हवाले किया आप जो चाहें अगर आप हुक्म देते हैं पहाड़ों में उसको पीस कर रख देता हूं पूरी कौम को पूरे इलाके को इनशी अन उथ बिका अक्षबैन आप सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया फ़काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल अर्जू अन युखरिज अल्लाह मिन असलाबिहिम मैं याबुदुल्लाह वहदह ला युशरिक बिही शैअन बल्कि अब भी मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला इनकी नस्ल में से ऐसे लोग पैदा करे जो एक अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न करें पीसो मत इस नस्ल को जाने दो इस नस्ल से मुझको नाउमीदी हुई है इस नस्ल ने मानने से इनकार किया है इस नस्ल को खत्म मत करो मैं इस नस्ल से नहीं मेरी उम्मीद अगली नस्ल से है आदमी की सोच आगे होना चाहिए आपने नहीं कहा ये नहीं मान खत्म कर दो इनको नहीं एक आदमी आम सतह से जब ऊंचा उठकर सोचने लगता है तो उसके उसके कौल में उसकी जिंदगी में एक अजीब किस्म का निखार पैदा हो जाता है क्या पावरफुल बात आप देखिए कितना जज्बात के अंदर इतना ऊंचा सोचना एक आदमी इतना दुखाया गया है आदमी इंतकाम के जज्बात में आ जाता है और खसूस जब एक आदमी के पास ताकत हाथ में आ जाए तो फिर ताकत का इस्तेमाल जैसा चाहे करता हो जिसके हाथ में फरिश्ता आ जाए ये फरिश्ता आपके हवाले जो बोलो करेगा आप बताइए फरिश्ते को अल्लाह की तरफ से इजाजत है जो बोले कर लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच एक आला सोच थी आप एक आला तरीन इंसान थे आपने देखा कि हाल में महरूमी है आज नहीं मिल रहा है ठीक है कल मिलने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है है ये नस्ल नहीं अगली नस्ल तो एक इंसान अगर आला सतह पर जीने वाला हो तो आज की नाकामी को वो अपने लिए हमेशा की नाकामी नहीं बनाता है आज के नुकसान को वो हमेशा का नुकसान नहीं बनाता है आज की महरूमी को वो जिंदगी भर के लिए महरूमी का सबक नहीं बना लेता है बल्कि वो सोचता है ठीक है आज नहीं कल के लिए करेंगे ये नस्ल नहीं हम अगली नस्ल को लेंगे दाई के लिए कितनी बड़ी कितनी बड़ी बात है देखिए दावत में एक आदमी देखता है लोग नहीं मान रहे ये नहीं मानती कौम अल्लाह बर्बाद करे इनको बर्बाद करे इनको लेकिन आप सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवाज में इस हदीस में हमको सबक दिया इस बात का कि एक आदमी अगर आज फेल हो जाता है और हालांकि देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लाह या कोई भी नबी या कोई भी दाई कभी फेल नहीं होता है क्यों इसलिए कि चाहे कोई नहीं माने उसका आजर जाय हुआ उसका आजर उसको मिलता है ये अजीब बात है कि दावत के सिलसिले में दीन के सिलसिले में कोशिशों के सिलसिले में अल्लाह का मामला ये है कि अजर अजर का ताल्लुक इंसान की कोशिश से है नतज से नहीं है दुनिया में क्या होता है एक आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करे और फिर कुछ भी नहीं बिका तो लोग उसको नाकाम मानते हैं बोले क्या है दिन भर बैठा रहा तेरा कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ तो नाकाम है लेकिन दीनी एतबार से एक आदमी अगर कोशिश करता है कोशिश करता है कोशिश करता है सही उसूलों के ताबे होकर कोशिश करता है लेकिन कोई नतीजा उसका नहीं निकलता है अगर उसने काम सही किया है लेकिन नतज सामने नहीं आए वो कामयाब है नाकाम नहीं है जिसके सामने नतज न आए वह अपने काम ही के बुनियाद पर अल्लाह ताला से उम्मीद कायम कर सकता है ये क्या है ये ऊंची सोच है ये ऊंची सोच अल्लाह के नबी वसल्लम का ये जुमला कि ये न सही मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह अगली नस्ल में इनकी नस्ल में ऐसे लोग पैदा करे कि जो अल्लाह की इबादत करें उसके साथ शिरक न करें तो एक आदमी को इस्लाम ये सिखाता है कि वो अपने हालात से आगे देखने वाला बने आदमी क्या हो जाता है ट्रैफिक हालात में ट्रैफिक जाम हो जाता उसका उसको पार दिखाई नहीं देता है लेकिन अगर उसकी हाइट ऊपर हो जाए अगर थोड़ा उसकी गाड़ी ऊपर चली जाए तो उसको दूर तक दिखाई देगा बल्कि गाड़ी ऊपर गई तो ऊपर से निकल भी सकता एक आम आदमी आम हालात में फंस के टूट जाता है लेकिन वाकई एक इंसान के पास ईमान हो उसके ऊपर अल्लाह की ज़ात पर उसका तवक्ल हो अल्लाह की ज़ात व सिफात की उसको मारफत हो अल्लाह के उसूल अल्लाह की सुन्नत अल्लाह के कायदे इंसानी तारीख में खसूस नबियों की तारीख में अल्लाह के मामलात का इल्म अगर उसको हो इंसानी तारीख में इंसान की नफसियात का इल्म अगर उसको हो और दुनिया के अंदर जो कायदे जिस कवायद के ऊपर अल्लाह ने दुनिया को बनाया है कायनात को बनाया वो कायदे अगर उसको मालूम हो तो ऐसा इंसान हर किस्म के हालात में चल सकता है हर किस्म के हाल में वो आदमी चल सकता है ये अंदर की ताकत होती है ये अंदर की ताकत होती है जो एक इंसान को हर किस्म के हालात में वाकई बैलेंस जीने वाला बनाती है बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली वीक होते हैं फिजिकली एकदम पहलवान होते हैं लेकिन क्या होता है खत पड़ा ढंग से बैठ गया और खत हाथ में से गिर गया और हिला रहे तो काय का हिलता यहां रख के देखे तो कोई खटखटाहट कुछ भी नहीं गया क्या हुआ सदमा सदमा हुआ नहीं ले पाया नहीं ले पाया कभी कुछ दुनिया में परेशानी आ जाती है आदमी टूट जाता है बीमार पड़ गए थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो गया आदमी जो बिस्तर पकड़ा तो गया क्या है इसमें कोई शक नहीं कि आदमी बाद यानी बड़ा नुकसान भी उसका होता है और आदमी को इंसान इंसान है सदमा होता है लेकिन एकदम टूट जाना एकदम नहीं टूटना चाहिए थोड़ा बहुत आदमी वाइब्रेट होती गाड़ी अगर पत्थर भी बीच में आ जाए तो। वो चल जाता है चल जाता कोई ठोकर लगा दे आदमी लड़खड़ाता थोड़ा तो। घड़े में पांव चलाए थोड़ा आदमी इम्बैलेंस होता है लेकिन एकदम आदमी लेट जाए रास्ते मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों इसलिए कि जिंदगी में अगर एक चीज आदमी खोता है तो उसके पास कुछ और कीमती होता है इसको याद रखिए अगर दुनिया में आदमी कुछ खोता है तो उसी वक्त उसके पास कुछ और कीमती भी होता है उसको देख के वो जी सकता है उसको देख के वो जी सकता है उसके लिए यानी उसके पास और कुछ काफी कुछ अल्लाह ने दे रखा होता है अगर उसको देखेगा तो पर शुक्र पैदा होगा तो बहरहाल इस्लाम हमको इस बात की तालीम देता है कि हम मजबूत बने ढीले और कमजोर नहीं बने हैं इसकी एक दूसरी मिसाल देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलमुमिनुल कवी खैर व अहब मिनलमुमिनफ़ वफ़ी कुल्लिन खैर एक कवी मोमिन अल्लाह के नज़दीक बेहतर और ज़्यादा प्यारा है उस मोमिन से जो कमज़ोर हो और हर एक में भलाई होती है दोनों में भलाई है शेख उसेमीन से लोगों ने पूछा यह हदीस हम जिम में लगा सकते क्या उन्होंने कहा लगाना सही नहीं है क्यों इसलिए कि यह हदीस उसके बारे में नहीं है बाद कुछ लोगों ने मुझसे भी हदीस बयान की है कहा ऐसा है कि नहीं है कभी मोमेंट पसंद है ना ये कुछ जान बनाओ यह हदीस जान बनाने के बारे में नहीं है ये ईमान बनाने के बारे में है क्योंकि आगे का सिया उस इस हदीस का जो आगे का मामला है वो इस बात को और ज्यादा वाजे करता है कि असल ताकत इंसान की जिस्मानी नहीं होती है आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला इबन मसूद रदी अल्लाह एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसवाक तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़े और हवा चल रही थी और ये साहब ही कैसे थे एकदम दुबले पतले उनके तहबन से जब ऊपर चढ़े लोगों ने देखा उनकी पिंडलियां पतली पतली पिंडलियां दुबले पतले आदमी इब्ने मसूद बहुत दुबले पतले थे लोग हंसने लगे हंसने लगे कैसा दुबला पतला आदमी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम उनकी पिंडलियां देख के हंसते हो अल्लाह की कसम अल्लाह के नज़दीक इनका वज़न बहुत पहाड़ से भी ज़्यादा है इनका नहीं इनकी पिंडलियों का उनका तो और ज़्यादा होगा आदमी का वज़न दुनिया की तराजू में अलग होता है और वाकई उसका वज़न उसका जिसम तय करता अगर ऐसा रहता तो हमारी वैल्यू हमारा गोश्त कितना किलो का आता भैंसा हमसे ज़्यादा अच्छा है कि नहीं एक बकरे के साथ बिठाएंगे तो इसकी बिक्री नहीं होगी आदमी का क्या वजन है उसकी ताकत उसकी कोत असल ये है उसकी असल ताकत वो है जो उसके अंदर यही इबन मसूद है एक मरतब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये सूरत मुशरकिन में जाके कौन पढ़ के सुनाएगा इबन मसूद खड़े होगा मैं पढ़ के सुनाऊंगा गए जाके सूरत सुनाई लोग आते गए मारते गए पूरी सुना के आए और आके देख बैठे तो देखा इनका हाल थोड़ा बिगड़ा हुआ है मारपीट हुई है अल्लाह के नबी वसल्लम को भी बुरा लगा कहा अल्लाह के रसूल कुरैश और जो मुशरकिन हैं अल्लाह की कसम इससे ज्यादा मेरे नज़दीक कभी जलील नहीं थे अगर आप अभी भी कहोगे अब जाके और एक बार सुना के आऊंगा ये पावर पिंडलियों का है आर्म्स का है ये अंदर का पावर है जिसके पास अंदर का पावर नहीं हो बड़ा बल्ब है एकदम अच्छी हेलोजन है करंट नहीं है करंट नहीं है उसके अंदर तो कुछ फायदे का है वो कुछ भी फायदे का नहीं करंट असल होता है और है बहुत अच्छा है लेकिन करंट क्या है पावर थोड़ा कम है डिम एकदम रोशनी देगा लेकिन छोटा भी वो पावर आया तो किसी जान देता है एकदम तो आदमी के अंदर असल ताकत जो है उसका जाहिर नहीं होता है उसका बातिन होता है और अक्सर औकात आप देखिए अंदर की ताकत अगर ज्यादा उसके हो तो जिस्मानी उसकी कमजोरी पर वो ताकत गालिब आ जाती है बल्कि कई लोगों को आपने देखा ऐसे होते जाके लड़ लड़ के आते और मोटे ताजे लोग थोड़े पीछे हट जाते हैं कहां से पावर आया उसका हाथ पाव का पावर है नहीं उसके अंदर हिम्मत है शुजात है उसके अंदर कुत है उसके अंदर तो असल ताकत आदमी की बाजुओं में नहीं होती है उसके दिल में होती है आदमी की असल ताकत कहां होती है उसके दिल में इसलिए हाथ इसमें भी क्या है आदमी के जिसम में गोश्त का लोथड़ा अगर वो सही पूरा बदन सही वो अगर सही नहीं है पूरा बदन खराब उसमें बिगाड़ तो सब बिगाड़ तो वहां कुत अगर हो आदमी के दिल में उसके ईमान में उसके कुत अगर हो वह आदमी पावरफुल है यहां हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलमुमिनुल खैर व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ कवि मोमिन मजबूत मोमिन ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक ज्यादा पसंदीदा है ज्यादा महबूब है और ज्यादा बेहतरी वाला है किससे कमजोर मोमिन से और दोनों में भलाई है ऐसा नहीं कि कमजोरों को हटा दो या ये जहन्नमी है नहीं बहुत सारे लोग बेचारे कमजोर होते हैं कम हिम्मत होते हैं लेकिन उनके कमजोरी हया कम हिम्मती डरपोक होने से वो जहन्नमी बन जाते हैं नहीं बल्कि वो कमजोर होते हैं औरतें कमजोर होती हैं बच्चे कमजोर होते हैं कई बड़े भी कमजोर होते हैं एहरिस आपने आगे क्या कहा आपने फरमाया एहरिस अला जो भी तेरे लिए भलाई वाली चीज हो नफा देने वाली चीज हो उसकी हिरस और तमन्ना कर अगर तुझको लगता है ये चीज अच्छी है उसकी तमन्ना कर चाहिए मुझको अगर किसी चीज में तेरे लिए भलाई है उसकी तमन्ना कर उसकी हिरस कर और वस्तिन बिल्लाही वला ताजस और अल्लाह से मदद चाह आजिज मत बन अल्लाह से मदद चाह आजिज बेहिम्मत मत बन अरे नहीं होता ऐसा मत कर पहले ही नहीं का नारा मत लगा बहुत सारे लोग अरे नहीं होगा ऐसा पहले से ही ट्राई भी नहीं किया अभी अरे क्या होने और कुछ नहीं होता छोड़ डालो नहीं वस्तिन बिल्ला जो तुझको लगता है अच्छा काम है इसमें भलाई है चाहे दुनिया का हो चाहे दीन का हो अच्छा है कुछ अच्छा गोल है वस उसको उसकी तमन्ना कर एहरिस आला मायन उसकी हिर्स कर जो तुझको नफा देने वाला हो इन बिल्ला और अल्लाह से मदद चाह अल्लाह है मदद करने वाला वाला ताजस फस्त हिम्मत मत बन आजिज मत बन आजिज किसको कहते हैं जो बिस्तर पर पड़ा है कुछ नहीं कर सकता है नाक पे बैठी हुई मक्खी भी नहीं हिला सकता कुछ लोग फिजिकली आजिज होते हैं कुछ लोग मेंटली आजिज होते हैं कौन करेगा ऐसे लोग भी होते हैं इतना कौन करेगा इन बिल्ला वला ताजिज अल्लाह से मदद चाह और आजिज मत बन व इन असाब का शई उन और फिर अगर उसके बावजूद तेरी हिम्मत के बावजूद मेहनत के बावजूद अगर कोई तकलीफ तुझको पहुंचे नाकाम हो जाए परेशानी आ जाए व इन असाब का शई उन फिर अगर कोई मुसीबत तुझको आए फला तकुल तो ऐसा मत कह लव अन्नी फैल तू काना कदा व कदा ऐसा मत बोल काश के मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता अरे रे रे ऐसा करता तो कितना अच्छा होता ऐसा मत कह अगर कोई परेशानी आ जाए मुसीबत आ जाए नुकसान हो जाए तो ऐसा मत कह कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा नहीं होता ऐसा मत कहे वलाकिन कुल कदर वमा बल्कि यूं कहे तो बस अल्लाह की तकदीर है अल्लाह ने जो चाह किया खता अल्लाह ने जो चाह किया फ़िन लव तफ्तः अमल शैतान इसलिए कि अगर मगर शैतान के अगर का लफ्ज अगर ऐसा होता तो वैसा होता ये जो अगर है ये शैतान की एक्टिविटी का दरवाजा खोलता है ये शैतान के अमल का रास्ता खोलता है और अल्लाह की कुदरत अल्लाह के फैसले अल्लाह की तकदीर पर ईमान से हटाकर एक आदमी को कुफर तक ले जाता है इसलिए आप देखिए बहुत सारे घरों में एक मैयत होती तो औरतें कैसा बोलती है अच्छा नहीं किया अल्लाह तूने बोलती कि नहीं बोलती कुफर है इस्लाम से निकल जाता है अल्लाह अच्छा नहीं किया क्यों इसलिए कि बाद अवकात इंसान अपनी सोच से सोचता है कि ये नहीं मरता तो घर का खर्च चलने वाला चलाने वाला आदमी बाकी रहता अब कैसा होगा तो अल्लाह ने सही नहीं किया हालांकि इसको देने वाला कौन था उसको देने वाला अल्लाह था और आप बताइए कौन सा घर है कि घर का बड़ा मर गया तो घर वाले भी मर गए अल्लाह कहीं ना कहीं से उसका रास्ता उसका रास्ता खोलता है अल्लाह तला हर आदमी कितने लोग हैं बचपन में यतीम हो गए लेकिन अल्लाह ने रास्ता खोला तकलीफ जो यतीम नहीं है उसको भी तकलीफ है तकलीफ जो बीमार नहीं है उसको भी तकलीफ है तकलीफ मालदार को भी तकलीफ है महल में जीने वाले को भी तकलीफ है बाद औकात झोपड़े में खा रहा है आदमी आड़ा तेड़ा कुछ भी खा रहा है डगर में सब हजम और महल में फूक फूक के खा रहा है इतना नमक मत खाओ इतनी शक्कर मत खाओ इतना तेल मत खाओ घी और नहीं वो भी पर उसकी परेशानियां सब पर हैं बस क्या है परेशानियों के कलर अलग अलग हैं उनके नाम अलग अलग हैं उनके टाइमिंग अलग अलग है उनकी किस्में अलग हैं परेशानियां हर एक के ऊपर है लेकिन आदमी यहां पर इस हदीस में हमको सिखाया गया कि अगर कोई तकलीफ तुझको पहुंचे देखिए कितनी जाम बहुत उमदा हदीस है इसमें बताया गया कि आदमी वाकई मजबूत वो होता है जो तकदीर पर ईमान लाता है नंबर एक नंबर दो जो कोशिश करता है अल्लाह के ऊपर भरोसा करके हदीस का आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एक हदीस मुस्तकिल एक दर्श है आपने क्या फरमाया देखिए आपने पहले तरगीब के तौर पर बताया दो कैटेगरी के लोग होते हैं एक कवि मोमिन एक कमजोर मोमिन पहले दो आपने बताया दोनों क्या होते हैं बोले कमजोर हो गया तो मोमिन ही नहीं ऐसा है अरे वो भी मोमिन ये भी मोमिन और आपने बताया कोई आदमी डरपोक है थोड़ा सा तो आपने नहीं कहा दोनों में खैर होती है क्योंकि इसका भी अपना एक पार्ट होता है कुछ लोग कैसे होते हैं उनका अपना एक फायदा होता है थोड़े डरपोक लोग भी फायदा होते हैं समाज के लिए कैसा एक आदमी है बहुत हिम्मत वाला है वो तो किसकी सुनता नहीं होता तो कूदो दूसरा तो बोलता अरे कूदेंगे हड्डी टूटेंगे तो थोड़ा वो भी सोचता है अगर कोई ऐसा डराने वाला नहीं रहेगा तो आदमी कूदेगा और रास्ते में सोचेगा पानी कुएं में है कि नहीं है कि नहीं तो बहुत सारे ऐसे बहादुर होते हैं जो बगैर तैयारी के कूद जाते हैं तो इस तरह से कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं उनका भी एक रोल समाज में होता है जो बोलते भाई ऐसा करेंगे ना नुकसान हो जाएगा ऐसा मत करो ये करेंगे ना प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये जो डरपोक किस्म के लोग होते हैं कम हिम्मत होते हैं या जो दूसरे पहलू को देखने वाले होते हैं इनका भी अपनी जगह क्या होता है फायदा होता है सेकेंड थॉट्स देने वाले लोग होते हैं ये वफी खैर हर एक में क्या होती है खैर होती है फिर आपने आगे क्या कहा आपने फरमाया अगर किसी चीज में फायदा है तो देखो फायदा नुकसान क्या है हलाल हराम के बाद क्या देखना चाहिए फायदा है या नुकसान है अब नुकसान है तो करके फायदा है नहीं नुकसान ही है लेकिन अगर उसमें फायदा है तो करना चाहिए आपने फरमाया जो चीज फायदा मंद हो उसकी तलब कर ये नहीं कहा कि फायदा तो तलब मत कर छोड़ दे फायदा नहीं नुकसान ही नुकसान लेता रहे ऐसा कहा नहीं फायदे की तमन्ना करे नफे की तिजारत हो सेहत हो इल्म हो जो भी मामला हो उसमें खैर की तमन्ना कर और नंबर दो इरादा करने के बाद अब असबाब सामने नहीं दिखाई दे रहे वस्त बिल्ला अल्लाह से मदद चाह अल्लाह से मदद चाह नंबर तीन वला ताजज आजिज मत बन कोशिश कर आजिज मत बन हिम्मत उठा और कोशिश कर लेकिन कोशिश करने के बाद हमेशा पास होते के सब कभी लॉस भी होता है कभी पास और कभी लॉस अगर लॉस हो जाए तो क्या करे लॉस होने के वक्त में आदमी क्या करता चुपित करा मैं तो पैसा लगा सब गया नहीं लगाता तो अच्छा होता तो आदमी इस तरह से जो है अफसोस अफसोस अफसोस में पिछले अफसोस में अगला मुस्तकबिल भी खराब कर देता है तो आपने क्या फरमाया कि वह इन असाब का शई उन फला तकुल लो अन्नी फैल तो का न कदा व कदा जब तुझको मुसीबत आ जाए तकलीफ हो जाए परेशानी हो जाए नुकसान हो जाए ऐसा मत कहे कि काश के मैं अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता बल्कि क्या कहे कदरुल्लाह व माशा अफैल बस अल्लाह की तकदीर है भाई जो मिलने वाला था मिल रहा तकलीफ तो तकलीफ राहत तो राहत अल्लाह की तकदीर है अल्लाह ने जो चाह किया उसको अल्लाह पर डाल दे तो ये आदमी आजाद हो जाता है उस गम और उस टेंशन से मुसीबत में परेशान होना मुसीबत को हटाता नहीं है दवा खाने का बिल बढ़ाता है आप बताइए कोई आदमी मुसीबत में बहुत टेंशन में क्या कर रहा है भाई टेंशन बहुत ले रहा मुसीबत हटने के लिए हटी नहीं हटती कोई आदमी मुसीबत में परेशान होने से मुसीबत हटती है नहीं दो मुसीबत पैदा हो जाती एक वो तकलीफ जो अभी बाकी है दूसरा ये जो टेंशन ले रहा है दूसरी मुसीबत है तो मुसीबत में परेशान होना दोहरी मुसीबत है तो इस्लाम ने हमको क्या बताया प्रॉब्लम हुआ ना नुकसान हुआ ना फेंक उसको पीछे निकल आगे तू उसको पीछे फेंक उसको तकदीर के खाने में डाल लेकिन ये कब है हो जाने के बाद है वरना आदमी क्या करता जानते काम को कह को जाने का तकदीर में रहेगा तो मिलेगा अपने को तो बीवी भी घर में खाना नहीं बनाएगी क्या बोली तकदीर में रहेगा तो पकेगा खाना क्यों नहीं बनाई तकदीर में रहेगा तो पक जाएगा वो अलग है बोले ये भी अलग है ये भी अलग है आदमी कोशिश करना चाहिए तो तकदीर का अकीदा नुकसान हो जाने के बाद एक आदमी को जैसे रिफ्रेश हो जाता है जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ साफ कर देते हैं तो सारे जो टेंशन होते हैं तकदीर का अकीदा क्या करता है उसको गीले कपड़े की तरह पूरा साफ टेबल जैसा हो जाता बर्तन जैसा धो के मांस के साफ हो जाते एकदम चेहरा दिखता उसमें तकदीर का अकीदा आदमी की टेंशन को ऐसा कर देता है हो गया ना खत्म करना उसको आप आगे निकल तकदीर का अकीदा ये है कि यूं कह अल्लाह की तकदीर अल्लाह ने जो चाह किया क्यों इसलिए कि अगर अगर कहना शुरू करेगा तो बैठा रहेगा और शैतान का अमल शुरू हो जाएगा शैतान तकदीर से अल्लाह से ईमान हटाकर कुफर तक ले जाएगा गोया कि इसको खालिक बना लेगा कि मैं ऐसा करता तो ऐसा होता अल्लाह जो चाहता है होता है कि तू जो चाहता है वो होता है तेरे चाहने के बावजूद अल्लाह ने जो चाहा वो किया इसीलिए एक आदमी ने जब कहा ए नबी अल्लाह जो चाहे और आप चाहे आपने कहा क्या अजायल तनी वह अदला तूने तो मुझको अल्लाह के साथ बराबर बना दिया वलाकिन माशा अल्लाह बल्कि अल्लाह अकेला जो चाहेगा वही होगा ये अकीदा हमारा बनाना चाहिए मैंने चाह कामयाब हो जाऊं अल्लाह ने चाह नाकाम हो जाए बस अल्लाह चाह रहा नाकाम हो तो कोई बात नहीं चलो आगे निकलो मसला खत्म कई ऐसे जो लोग होते हैं जो ज्यादा इस बारे में टेंशन नहीं लेते हैं वो आगे कामयाबी की तरफ निकल जाते हैं और बहुत सारे लोग जो पीछे होने वाले प्रॉब्लम ही को देखते रहते हैं वो आगे की अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते रहते हैं इसको याद रखिए बहुत सारे लोग जो पिछले गम में खोए रहते हैं वो आगे के जो चांसेस आ रहे हैं कामयाबी के खुशी के उनको ड्रॉप करते चले जाते हैं इसलिए आदमी को चाहिए कि वो अपनी सोच को ऊंचा करे और कुरान सुन्नत एक इंसान की सोच को ऊंचा करती है इसलिए कि कलाम ऊंचे की तरफ से आया है उसकी तरफ से जो सबसे ऊंचा है इस कलाम को जब आदमी पढ़ता है और अपनी सोच को इसके मुताबिक बनाता है अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढालता है तो उसकी सोच और उसकी जिंदगी की सतह भी ऊंची हो जाती है अल्लाह ताला हमको सही समझ अता फरमाए और कुरान सुनत का इल्म हासिल करके उसके ताबे होने की तोफ़ी अदा फरमाए